मास पारायण पन्द्रव प्रारम्भ मा तु समीप कहत सपुचाहि बोले समझे मन माही राजकुमारी सिखावनु सुनहू आन भाति जिय जन कछु गुन हो आपन मोर नीक जो चहु बचन हमार मान ग्रह रहु आय सुमोर सासु सेवकाई सब विधि भामिनी भवन भलाई दे अधिक धर्म नहीं दूजा सादर सातु ससुर पद पूजा जब जब मातु करी सुधि मोरी ही प्रेम विकल मति भोरी तब तब तुम कही कथा पुरानी समुझाए हो मृदुबा कहो सुभाय शपथ सतमोहि सुमुखी हित राखौ तोहि गुरुश्रुति सम्मत धर्म फलो पाई अभी नहीं कले हठ बस सब संकट सहे गालव न होश नरे माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं पर मन में ये समझ कर कि ये समय ऐसा ही है वे बोले हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो हे भामिनी मेरी आज्ञा का पालन होगा सास की सेवा बन पड़ेगी और घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है आदर पूर्वक सास ससुर की चरणों की सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी हे सुंदरी तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना हे सुमुखी मुझे सैकड़ों सौगंध है मैं ये स्वभाव से ही कहता हूं कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूं मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सहे मैं पुण्य कर प्रवान विदुबानी बेगी फिर सुनो सुमुखी सयानी दिवस जात नहीं लागी ही बारा सुंदर सिखवनो सुनहु हमारा जो हथ करहु प्रेम बस बामा तो तुम दुख पाऊ बपरिनामा कानन कठिन भयं करु भारी हिम बारी बयारी कुश कंटक मग का नाना चलब पया बिनु पद त्राना चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारी मारग अगम भूमि धर भारी खोह नदी नद नारी अगम अगाध न निहारे भालु बाघ ब्रिक के हरिनागा सुनि धीरजु भागा भूमि शयन बलकल फल मूल ते कि सदा सब दिन मिलही सबुई समय अनुकूल हे सुमुखी हे सयानी सुनो मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा दिन जाते देर नहीं लगेगी हे सुंदरी हमारी ये सीख सुनो हे वामा यदि प्रेमवश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी वन बड़ा कठिन और भयानक है वहां की धूप जाड़ा वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं रास्ते में कुश कांटे और बहुत से कंकड़ हैं उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं पर्वतों की गुफाएं खोह नदियां नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता रीछ बाघ भेड़िए सिंह और हाथी ऐसे शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है जमीन पर सोना पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा नर चर चरही कपट वेश विधि कोटि पहार कर पानी विपिन विपति नहीं जाय बखानी व्याल कराल बन घोरा निसि चरण कर नारी नर चोरा डर पहि धीर गहन सुधियाए मृगलोचनी तुम भीरु सुभाए हंस गवनी तुम नहीं बन जोगू सुनियप जसु मोहि दे ही लोगू सलिल सुधा प्रतिपाली लवन पयोधि मराली नवरसाल बन सोह सोहकि कोकिल विपिन करीला रहु भवन अस हृदय विचारी चंद बदन दुख कानन भा सहज सुहृद गुर स्वामी सिख जो न कर मानी सो पछताई अघायुर हवसी हो हित मनुष्यों को खाने वाले राक्षस फिरते रहते हैं वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती वन में भीषण सर्प भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड के झुंड रहते हैं वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं फिर हे मृगलोचनी तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो हे हंस गमनी तुम वन के योग्य नहीं हो तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है नवी नाम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है हे चंद्रमुखी हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो वन में बड़ा कष्ट है स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के लोचन ललित भरे जल सिय के शीतल सिख दाहक भई कैसी जकै तरद चन्दनिसि जरु वल वै देहि सजन चहत सुचि स्वामि सनेहि वर कि विलोचन बारी धरि धीरज वनि कुमार लाग सा सु पग कहकर जोरि क्षमविदे बड़ी अभिनय मोरि दीन् पति मोहित सिख सोई जेहि विधि मोर परमहित हो पुनि देखी मन सम समदुख जगना प्राणनाथ नाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान तुम्ह बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए श्री राम जी की ये शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता वे ये सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं नेत्रों के जल को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर सांस के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी हे देवी मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है हे प्राणनाथ हे दया के धाम हे सुंदर हे सुखों के देने वाले हे सुजान हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है मातु पिता भगिनी प्रिय भाई प्रिय परिवार सुहृद समुदाय सासु ससुर गुर सजन सहाय सुत सुन्दर सुशील सुखदाय लगी नाथ नेह हुते ताते धनु धनु धनुरनि पुर राजु विहीन सब शोक समाजु भोग रोग समभूषण भारु जातना सरित संसार प्राणनाथ नाथ तुम बिनु जग माही मो कहु सुखद कतहु कछु नाही जिय बिनु देह नदी बिनु बारी तैसिय नाथ पुरुष बिनु नारी सकल सुख साथ तुम्हारे शरद विमल विधु निहार खग मृग परिजन नगर बनु बलकल विमल धुकु नाथ साथ सुर सदन सम परन साल सुख मूल माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार मित्रों का समुदाय सास ससुर गुरु स्वजन सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र हे नाथ जहां तक स्नेह और नाते हैं पति के बिना स्त्री को सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य पति के बिना स्त्री के लिए ये सब शोक का समाज है भोग रोग के समान है गहने भार रूप हैं और संसार यम यातना के समान है हे प्राणनाथ आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है हे नाथ आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे हे नाथ आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी बन देवी बन देव उदारा करी हि सासु ससुर समसारा खुश किस लय साथरी सुहाई प्रभु संग मंजु मनोज तुराई कंद मूल फल अमी आहारु अवध साध सत सरित पहारु छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलो की रही हम मुदित दिवस जिमी को की बन नाथ कहे बहु भय विषाद परिताप घनेरी प्रभुयोग लव लेस हो ही न कृपा जानि सुजान शिरोमणि लेय मोहि छाडिय जनि विनती बहुत करो का स्वामी करुणामय पूर्न्तर राखिय अवध जो अवधि लगी न जनियहि प्राण बंधु सुन्दर सुखद सील सनेह निधान उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी अर्थात बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है हे नाथ आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे परंतु हे कृपा निधान वे सब मिलकर श्री प्रभु आपके वियोग के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि आप मुझे साथ ले लीजिए यहां न छोड़िए हे स्वामी मैं अधिक क्या विनती करूं आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं हे दीन बंधु हे सुंदर हे सुख देने वाले हे शील और प्रेम के भंडार यदि अवधि अर्थात चौदह वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे मोहि मग चलत न हो हारी छिनु छिनु चरण सरोज निहारी सब ही भांति पिय सेवा करी हो मारग जनित सकल श्रम हरि हो पाय पथारी बैठी तरु छाही करी हऊ बा मुदित मन माही श्रम कन सहित श्याम तनु देखे कह दुख समाओ प्राण पति देखे महित्रिन तरु पल्लव डासी पाय पलोटी सब नि बार बार मृदु लागी ही तात बयारी नमो ओ प्रभु संग मोहि चित्व निहारा सिंह बधु ही जिमि ससत सियारा मैं सुकुमारी नाथ बन जोगु तुम्ही उचित तप मो कहु भू ऐसे बचन कठोर सुनी जौन हृदय बिलगान तो प्रभु विषम वियोग दुख सही हही पावर प्राण क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी हे प्रियतम मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर पंखा झलूंगी पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहां रहेगा समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर ये दासी रात भर आपके चरण दबाएगी बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी प्रभु साथ रहते मेरी और आंख उठाकर देखने वाला कौन है जैसे सिंह की स्त्री को खरगोश और सियार नहीं देख सकते मैं सुकुमारी हूं और नाथ वन के योग्य हैं आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे विकल भई भारी वचन वियोग न सखी संभारी देखि दशा रघुपति जिय जाना हति राखे नहीं राखी प्राण नाथा भुकुलनाथ सोचु चलहु बन साथा नहीं विषाद कर अवसर वेग वेगि बन गवन समाजु कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई लगे मातु पद आशिष पाई बेगी प्रजा दुख में तब आई जननी निथुर बिसरी जनी जाई फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी देखी नयन मनोहर जोरी सुदिन सुभरी सात कब हो जननी जियत बदन विधु विधुजो बहुरी बच्छ कही कहला कही रघुपति रघुबर कब ही बोलाई लगाई हर्षिनि रखी हूँ गात ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई विवचन के वियोग को भी न संभाल सकी अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई उनकी ये दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहां रखने से ये प्राणों को न रखेंगे तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो आज विषाद करने का अवसर नहीं है परंतु वन गमन की तैयारी करो श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया फिर माता के पैरों पे लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया माता ने कहा बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और ये निठुर माता तुम्हें भूल न जाए हे विधाता क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी क्या मैं अपने नेत्रों से इस मनोहर जोड़ी को फिर से देख पाऊंगी हे पुत्र वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर से देखेगी हे तात वत्स कहकर लाल लाल कहकर रघुपति कहकर रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी लखि स्नेह कातरे महतारी वचनु न भई विकल भय भारी राम प्रबोधु विधि नाना समौ स्नेहु न जाय बखाना सब पग सासु पगलागी माय मैं परम अभागी सेवा समय दया बनुदीन् मोर मनोरथ सफल न किन्ह छाड़िय जनिोह करमु कठिन कछु दो सुनमो सुनिसिय बचन सासु अकुलानी दशा कवनि विधि बखानी बारहि बार लाई उरली हरि धीरज सिख आशिष दी अचल हो अहि बात तुम्हारा जब लगी गंग जमुन जल सीत ही सासु असीस सिख दीन्ही अनेक प्रकार चली नाय पद पदुम सिरु अतिहित बारही बार ये देख कर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल हैं कि मुंह से वचन नहीं निकलता श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली हे माता सुनिए मैं बड़ी ही अभागिनी हूं आपकी सेवा करने के समय दैव ने मुझे वनवास दे दिया मेरा मनोरथ सफल न किया आप क्षोभ का त्याग कर दें परंतु कृपा न छोड़िएगा कर्म की गति कठिन है मुझे भी कुछ दोष नहीं है सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूं उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलख बदन उठ धाई कंप पुलक तन नयन सनीरा गहे चरण अति प्रेम अधीरा कही न सकत चितवत ठाढ़े मीनु दीन जनु जलते काढ़े सोचु हृदय विधि का हो निहारा सब सुख सुकृत सिरान हमारा मो कहूँ का कहब रघुनाथा रखी है भवन किले है साथा राम बिलो की बन्धु जूरी देह गेह सन त्रिनु तोरी बोले बचनु राम नय नागर शील सनेह सरल सुख सागर सत प्रेम बस जन कद राहू समुझि हृदय परिणाम उछा मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिर धर लहे उला भुतिन जन्म कर न तरु जनम जग जा जब लक्ष्मण जी ने समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े शरीर कांप रहा है रोमांच हो रहा है नेत्र आंसुओं से भरे हैं प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए वे कुछ कह नहीं सकते खड़े खड़े देख रहे हैं ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो हृदय में यह सोच है कि हे विधाता क्या होने वाला है क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले हे तात परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है हस जी जान हो सिख भाई करहु मातु पितु पद सेवकाई भवन भरतु रिपु सूदनु नाही जाऊ वृद्ध मम दुख मन माही मैं बन जाऊं तुम्हें लेता था हो सब ही विधि अवध अनाथा गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु सब कहूँ पर दुसह दुख भारू करहु सब कर परितोषु नतरुतात बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सोद्रिपु अवसिन नरक अधिकारी रहुतात असि नीति विचार सुनत लखनु भय व्याकुल भारी सियरे बचन सुखी गए कैसे पर सत तुहिन काम रसु जैसे आवत प्रेम बस गहे चरण अकुला नाथ दासु मैं स्वामी तुम तजहु तकाह बसाई हे भाई हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है महाराज वृद्ध है और उनके मन में मेरा दुख है इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुह सह भार आ पड़ेगा अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है हे तात ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ ये सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा हे नाथ मैं दास हूं और आप स्वामी हैं अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है दीन ही मोहि की गोसाई लागी अगम कदराई नर बर धीर धरम धुरधारी निगम नीति कहोते अधिकारी मैसे सुप्रभु सनेह प्रतिपाला मन्दर मे रुकिले हि मराला गुरुपित मातु न जानू गौ सुभानाथ पत लग जगत सनेह सगाई। प्रीति प्रतीति निगमनि जुगा मोरे एक तुम स्वामी दीन बंधु उर अन्तर जा धर्मनीति उपदेशियता कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि मन क्रम रत हो कृपा सिंधु परिहरियति सो करुणा सुबन्धु के सुनि मृदु बचन विनीत समुझाए उरलाई प्रभु जान स्नेह सभीत हे स्वामी आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है पर मुझे अपनी कायरता से वो मेरे लिए पहुंच के बाहर लगी शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं मैं तो आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूं कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं ए नाथ स्वभाव से ही कहता हूं आप विश्वास करें मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता जगत में जहां तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है जिनको स्वयं वेद ने गाया है हे स्वामी हे दीन बंधु हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले मेरी तो वे सब कुछ केवल लाप ही हैं धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो हे कृपा सिंधु क्या वो भी त्यागने के योग्य है दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया गहु विदा मा तो सन जाई आवहु बेगी चलहु बन भाई मुदित भय सुनि रघु बर बानी भय लाभ बड़ गई बड़ी हानि हर्षित हृदय मातु पही आए मनहु अंध फिरि लोचन पाए जाय जननी पगनाय माता मनु रघुनंदन जानकी पूच्छ पूछे मातु मलिन मन देखी लखन कही सब कथा विशेषी गई सहमी सुनी वचन कठोरा मृग देखी दव जनु चहूरा लखन लखे उभा आजू भा सनेह एहि करब अकाजू, समागत विदा भय पुचाहि जाय संग विधि कहि कि समुझि सुमित्रा राम सिय रूप सुशीलु सुभा सने हु लख्य धुने उसरु पापिनी दीन कुदा और कहा हे भाई जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और श्री जानकी जी के साथ था माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गईं जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है लक्ष्मण ने देखा कि अब अनर्थ हुआ ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगे इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं हे विधाता माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीटा और कहा पापिनी कैकई ने बुरी तरह घात लगा धीरज धरे को अवसर जानी सहज सुहृद बोली मृदु बानी तुम्हारी मातु बैदे पिता राम सब भाति सनेहि अवधतः राम निवासु। सह दिवसु जहा भानु प्रकासु पैती राम बन जाही अवध तुम्हार काज कछु नाही गुर पितुमात बंधु सुर साई से यही सकल प्राण की नाई राम प्राण प्रिय जीवन जी के रहित सखा सब ही के पूजनीय प्रिय परम जहां थे सब ही राम के नाते अस असीय जान संग बन लेहु तात जग जीवन भूरि भाग भाजनु भयहु मोहि समेत बलि जा जो तुम्हरे मन छलू की राम पद ठाऊ परंतु कुसमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली हे तात जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं जहां श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है जहां सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सबकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा है जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही मानने योग्य हैं हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ मैं बलिहारी जाती हूं हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम के चरणों में स्थान प्राप्त किया पुत्रवती जुबती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई न तरु बांझ भली वादि बियानी विमुख सुतते हित जानी रही भाग राम बन जाहि दूसरहे कछु नाही सकल सुकृत कर बड़ फलुए बलुवेह पद सहज राग रोशु ईर्षा मधुमोह जन सपने के बस हो सकल प्रकार विकार विहाई मन क्रम बचन तुम तु बन सब भाति सुपासु संग पितु मातु सिय जासु न राम बन बनलहहि कलेसु सुत सोई करेहु संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी पशु की भांति उसका ब्याना अर्थात पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं हेतात दूसरा कोई कारण नहीं है संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना तुमको वन में सब प्रकार से आराम है जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता हैं हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे मेरा यही उपदेश है उपदेशु यहु तात तुम्हारे राम सिया सुख पावहि मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन विसरावहि तुलसी प्रभु ही सिख आयसु दीन दै रति हो अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई तात मेरा यही उपदेश है जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल अर्थात निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो तो चरण सिरुनाई चले तुरत संकित हृदय बागुर विषम तोराई मनहु भाग मृगु भाग बस माता के चरणों में सिर नमाकर हृदय में डरते हुए कि अब कोई और दूसरा विघ्न न आ जाए लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो गए लखनऊ जहां जान की नाथ मन मुदित पाई साधु पाय राम सिय चरण सुहाय चले संग नृप आए कह परस पर पुर नर नारी भली बनाई बात बिगारी तन कृत मन दुख बदन मलिने हो मनहु माखी छीने कर्मी जही सिरु धुनि पच्छताहि जनु बिनु पंख बिहग अखुलाहि भई बड़ी भीर भूप दरबारा बरनी न जाय विषादु अपारा सचिव उठाय कही प्रिय बचन राम पगुधारी समेत दो निहारी व्याकुल भया भूमि पति सीय सहित सुत सुभग दो देखि देखी अकुला बारहि बार स्नेह बस राउले लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी उनके शरीर दुबले मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती हैं सब हाथ मल रहे हैं सिर पीट कर पछता रहे हैं मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता श्री राम जी पधारे हैं ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं बोली बोलि नर नरनाहु शोक जनित उर दारुण नाइसी सुपद अति अनुरागा रघुबीर विदा तब मागा। यस मोहि दी जय फर्श समय कत की जय दात कि प्रिय प्रेम प्रमादु जसु जग जाई हो अपबादु सुनि सनेह बस बैठा रे रघुपति गहि सुनहु तात तुम कहु मुनि कही चराचर नायक रही शुभ अरु अशुभ करम अनु सुदे फल हृदय विचारी करई जो करम पाव फल सोई निगम नीति असि कह सब को और करे अपराध को और पाव फल भोग अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो राजा व्याकुल हैं बोल नहीं सकते हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी हे पिताजी मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं हे तात प्रिय के प्रेम वश प्रमाद करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी ये सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा हे तात सुनो तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है जो कर्म करता है वही फल पाता है ऐसी वेद की नीति है ये सब कोई कहते हैं किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है अपराध तो कोई और करे और उसके फल का भोग कोई और ही पाए भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है उसे जानने योग्य जगत में कौन है राय राम राखन हित लागी बहुत उपाय किए छु त्यागी लखी राम रुख रहत न जाने धर्म धुरंधर धीर सयाने सब नृपति अलाई उड़ली भी अतिहित बहुत भाति ी की बन के दुख दुसह सुनाए सासु ससुर पितु सुख समुय चरण अनुरागा धरु न सुगम बनु न लागा और मसीह समझाई कही कही विपिन विपति अधिकाई सचिव नारी गुर नारी सयानी सहित स्नेह कह मृदुबानी तुम कहू तो नदी दीन बनवासु जो कहि ससुर गुरु सिख सीतलि हित मधुर मृदु ही न सुहा शरद चंद चंदिनी लगत जनु चकई अकुला राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी वन के दुख सह दुख कहकर सुनाए फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को खूब समझाया मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास नहीं दिया है इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो ये शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी न लगी वे इस प्रकार व्याकुल हो गईं मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो सकुच बस उतरु न दे सो की उठी उखे मुनिपट भूषण रानी आगे धरि बोली मृदु बानी नृपहि प्रिय तुम रघुबीरा तील सने ना छाड़ी ही भीरा सुकृतु सुजसु पर लो कुनताऊ तुम ही जान बन कही ही न काऊ हस विचार सोई करहु जो भावा राम जननी सिख सुनि सुख पावा भूपहि बचन बान बाण समलागे करहिन प्राण पयान अभागे लोक विकल मूर्छित नर काह करिय, कच्छ काहू राम तुरत मुनि बेशु बनाई चले जनक जनत ही सिरुनाई सजीवन साजु समाजु सबू बनिता बंधु समेत बंद विप्र गुरु चरण प्रभु चले करी सब ही अचेत सीता जी संकोच वश उत्तर नहीं देती इन बातों को सुनकर कैकई तमक कर उठी उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा हे रघुवी राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें वन जाने को वे कभी न कहेंगे ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया परंतु राजा को यह वचन बाण के समान लगे वे सोचने लगे अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते राजा मूर्छित हो गए लोग व्याकुल हैं किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए वन का सब साज सामान सजकर श्री रामचंद्र जी स्त्री और भाई सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले निकस वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े देखे लोग विरह दव दाढ़े कही प्रिय बचन सकल समुझाए विप्र वृंद रघुबीर बोलाए गुरु सन कही बरशासन दीने आदर दान बिनय बस की है चक दान संतोषे नीत पुनीत प्रेम परितोषे दासी दास बोलाई बहूरी गुरही सौंपी बोले कर जोरी। कैसार सभार गोसाई वि जनक जननी की नाई बारहि बार जोरि जुग पानी कहत राम सब सन मृदुबानी सब भाति मोर हितकारी जते रह भुवाल सुखारी मातु सकल मोरे विरह हो ही दुख दीन सोई उपा तुम करे हो सब पुरजन परम प्रवीण राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया गुरुजी से कहकर उन सबको वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले हे गुसाई इन सब की माता पिता के समान सार संभार करते रहिएगा श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे हे परम चतुरपुरवासी सज्जनों आप लोग सब वही उपाय कीजिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो विधि राम विधिराम तबिवा गुरुपद पदु सिरुनावा, गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले अतीस पाई रघुराई राम चलत अति भौ विषादु सुनि नय पर्यादु कुसगुण लंक अवध अति सोकु हर्ष विषाद विवस सुरलोकु गई मुरछा तब भूपति जागे बोलि सुमंत्र कहन हस लागे राम चले बन न जाहि केहि सुख लागे रहत तन माहि कवन व्यथा बलवाना जो दुख पाए तजहि तनु प्रण पुनि धरि धीर कह रथु संग सखा तुम जा। सुकुमार कुमार दो। जनक सुता सुकुमारी रथ चढ़ाई देख राय बनो फिर हो गए दिन चारी इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नमाया फिर गणेश जी पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया नगर का हाहाकार सुना नहीं जाता लंका में बुरे शकुन होने लगे अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में गए हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्यावासियों के शोक के कारण था मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे फिर धीरज धरकर राजा ने कहा हे सखा तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर चार दिन के बाद लौट आना जो नहीं फिर धीर दो भाई सत्य संध सत्यसन्ध दृढव्रत रघुराई तो तुम विनय करे हो कर जोरी तेरी प्रभु मिथिलेश किशोरी जब सिया कानन देखी देराई कहे हु मोरी सिख अवसर पाई सासु ससुर अस कहे संदेशु पुत्री फिरिया बन बहुत कलेसु पितु ग्रह कबहु कबहु ससुरारी रहे हु जहाँ रुचि होई तुम्हारी एहि विधि करेहु उपाय करम् वा फिर प्राणलम्बा नाहि समोर मरणु परिणामा कछु न बसाय भय बामा, अस कही मुरुचि परा महिरा राम लखनु सिंह आन देखा आय रजाय सुनाई सिरु रथवती बेग बनाई गए जहां बाहेर नगर सीय सहित दो भाई यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे क्योंकि रघुनाथ प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए जब सीता वन को देखकर डरे तब मौका पाकर मेरी ये सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री तुम लौट चलो वन में बहुत क्लेश है कभी पिता के घर कभी ससुराल जहां तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना यदि सीताजी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता हा राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे तब सुमंत्र दीप बचन कर बिनती तीरथ राम चढ़ी रथ सीय सहित दो भाई चले हृदय अवधहि सिरुनाई चलत राम लखी अवध अनाथा विकल लोग सब लागे साथा कृपा सिंधु बहु विधि समझा वही फिर ही प्रेम बस पुनि फिर वही लागती अवध भयावनी भारी मानहु काल रात अंधियारी घोर जंतु तम पुर नर नारी डर पहिए कही एक निहारी धर्मसान परिजन जन भूता सुतहितमीत मनो जमदूता बागन् कुम्हिलाही दरित सरोवर देखिन जा हय गय कोटिन् केली मृग पुर पशुचातक मोर रथांग सुख सारिका सारस हंस चको वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरों को देखकर डर रहे हैं घर श्मशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरण नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर राम वियोग विकल सब ताढ़े जहां तहाँ मन चित्र लिखी काढ़े नगरु सफल बनु गहबर भारी सग मृग विपुल सकल नर नारी विधि कई की जेहि दव दुसह दसहु दिस दीन सही न सके रघुबर विरभागी चले लोग सब व्याकुल भागी तब ही विचार की मन मान राम लखन सिय बिन सुख नाही जहाँ राम तहाँ सबु समाजू बिनु रघुबीर अवध चले नहीं साथ मंत्र दृढ़ाई सुर दुर्लभ सुख सदन राम चरण पंकज प्रिय जनही विषय भोग बस बसर बालक वृद्ध विहार ग्रह लगे लोग सब साथ तमसा निवा किया प्रथम दिवस रघुनाथ श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे विधाता ने कैकई को भिलनी बनाया जिसने दसों दिशाओं से दुह सह दावाग्नि आग लगा दी श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके सब लोग व्याकुल होकर भाग चले सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है जहां श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए उधर पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी सदय हृदय दुख भय करुणामय रघुनाथ गोसाई बेगी पाई अही पीर पराई सब प्रेम मृदु बचन सुहाए बहु लोग समुझाए कि धर्म उपदेश घने रे लोग प्रेम बस न फेरे सीलु सने छाड़ी नहीं जाए असमञ्जस बस भे रघुराई लोग शोक श्रम बस गए सोई कच्छुक देव माया मति मो ही जाम जुग जामिनी बीती राम सचिव कहे उस प्रीति खोज मारी रथ हा कहता आन उपाय बनी बहि राम बाता सिय जान चढ़ी शंभु चरण सिरुनाई सचिव चलायो तुरत रथो हित उत खोज दुराई प्रजा को प्रेमवश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं पराई पीड़ा को भी तुरंत पा जाते हैं प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए परंतु प्रेमवश लोग लौट आए लौटते नहीं शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए शोक और परिश्रम के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई जब दो पहर बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा हे ताक रथ के खोज मारकर रथ को हाँकिए अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले इस तरह इस रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया जागे सकल लोग भय भोरू गे रघुनाथ भयउ अति सोरू रथ कर खोज कतहु नहीं पावही राम राम कहि चहु दिशाई मनहु बारि निधि बूढ़ जहाजू भय विकल बड़ बनिक समाजू हे कही एक देही उपदेशु दजेरा जनि कले तु निन्दहियाप सराहनीना भि जीवन रघुवीर्विहिना जपैप्रिय वियोग विधिः तौकस मरणे दीहा ए विधि करत प्रलाप कलापा आए अवध भरे परितापा विषम वियोग न अवधियास सब राखहि प्राण राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी मनहु कोक को की कमल दीन विहीन तमारी सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि रघुनाथ जी चले गए कहीं रथ को खोज नहीं पाते सब हाराम हाराम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा ये जानकर छोड़ दिया है वे लोग अपनी अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता चौदह साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंग बेरपुर पहुँचे जाई राम देव सरी देखी सरिदे दण्डवत हर शेषी लखन सचिव प्रणाम कि प्रणा सहित सुख पायौ रामा गंगा सकल मू सब सुख हरन सब सूला कही कही कोटित कथा प्रसंगा राम बिलो कही वही अनु जही प्रिय सुनाई विबुध नदी महिमा अधिकारी कीन्ह पन्थ श्रम गय सुचि जल पियत मुदित मन भय सुमिरत जाहि मित श्रम भा हे श्रम यह लौकिक व्यवहार शुद्ध सच्चिदानन्दमय कन्द भानुकुल केतु करत नर अनुहरत संस्कृति सागर से सीता सीताजी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की लक्ष्मण जी सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है वे सब सुखों को करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली है अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं उन्होंने मंत्री को छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई इसके बाद सबने स्नान किया जिससे मार्ग का सारा श्रम दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है उनको श्रम होना ये केवल लौकिक व्यवहार है शुद्ध सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान हैं। यह सुधि ग्रह निषाद जब पाई मुदित प्रिय बोलाई लिए लिये मूल भेंट भरी भारा मिलन चले हर शु अपारा दंडवत भेट धरी आगे प्रभु ही विलोकत अति अनुरागे सहज सनेह रघुराई पूछी कुशल निकट बैठाई, नाथ कुशल पद पंकज देखे भय भाजन जन जनलेखि देव धरणी धनु तुम्हारा नीचु सहित परिवार कृपा करिय पुर धारिय पाओ खापिय जनु लोग सिहाओ हु सत्य सब सखा सुजाना मोहि दीन पितु चारि दस बासुबन मुनिव्रत बेशु अहार बासु नहीं उचित सुनी गुहा ही भयाओ दुख भार जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल लेकर उन्हें भारों में भरकर मिलने के लिए चला उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी निषाद राज ने उत्तर दिया हे नाथ आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है आज मैं भगवान पुरुषों की गिनती में आ गया हे देव यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूं अब कृपा करके पुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें श्री रामचंद्र जी ने कहा हे सुजान सखा तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है उनकी आज्ञा अनुसार मुझे चौदह वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है ये सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ राम लखन सिय रूप निहारी कहि स प्रेम ग्राम नर नारी ते पितु मातु कहु सखी कैसे जिन पठे बन बालक ऐसे एक कहि भल भूपति की लोचन लाहु हमहि विधि दी पति उर अनुमाना, तरुसिं सुपा मनोहर जाना, ही ठाऊ दिखावा, कहे उ सब भाति सुहावा, पुर जो करी घर आए रघुबर संध्या करन सिद्धा गुह सवारी साथरी कुस किस मय मृदुल सुचि फल मूल। मधुर मृदु जानी दोना भरी भरी राखे सिपानी सुमंत्र भ्राता सहित कंद कन्द फल सयन कीन रघुबंस मनी पाय पलोटत भाई श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं कोई कहती है हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है कोई एक कहता है राजा ने अच्छाई किया इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को मनोहर समझा उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया राम जी ने देखकर कहा यह सब प्रकार से सुंदर है पूर्वासी लोग वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे गुह ने इसी बिचकुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया सीता जी सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे उठे लखन प्रभु सोवत जानी सचिव हि सोवन मृदुबानी कछुक दूरी सज सरासन जागन लगे बैठी वीरासन गुह बोलाई पाहरु प्रतीति ठाव ठाव राखे अति प्रीति पही बैठे पहि कटि भाथी सर चाप चढ़ाई सोवत प्रभु ही निहारी निषादु भय प्रेम बस हृदय विषादु पुलकित जल लोचन बहई वचन सप्रेम लखन सन कह भूपति भवन सुभाय सुहावा सुरपति सुदनु न पट तर पावा मणिमय रचित चारु चौबारे जनुरतिपति निज हाथ सवारे सुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगन्ध सुबास पलंग मंजुमनि दीप जहां सब विधि सकल सुपास फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन में बैठकर पहरा देने लगे गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से जल बहने लगा वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता जिसके सुंदर मणियों के रचे चौबारे हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है जहां सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है विविध बसन उपधान तुराई क्षीर थेन मृदु विसद सुहाई राम सयन निशि करही निज छबिरति मनोज मृदु हरही हे राम साथरी सोए श्रमित बतन बिनु जाही न जोए मातु पिता परिजन अरुदासी बाति सखातु वही ही प्राण की नाई मही सोवत ते राम गोसाई पिता जनक जग विदित प्रभाव। ससुर सुरेश सखारघुरामचन्द्रपति सोवैदे सोवत महि विधि के सिय रघुवीर की कानन जो परम प्रधान सत्य कै नंदिनी मंद मन्दमते कठिन कुटिल पनु की जेहि रघुनंदन जान की सुख अवसर दुख दी जहां अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल निर्मल और सुंदर हैं वहां श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते माता पिता कुटुंबी प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं जिनके पिता जनक जी हैं जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं वही जान कीजिए आज जमीन पर सो रही है विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं लोग सच कहते हैं कर्म ही प्रधान है कई कई राज की लड़की नीच बुद्धि कई कई ने बड़ी ही कुटलता की जिसने रघुनंदन श्री राम जी और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया दिन कर कुल कीन्ह सब विश्व भय विषाद निषाद ही भारी मही सयन निहारी बोले लखन मधुर मृदु पानी ज्ञान विराग भगति न को सुख दुख करदाता निजकृत करम भोग सब भ्राता जोग योग भोग भल मंदा हित अनहित मध्यम फंदा जनम मरनु जहाँ लगि जग विपति सम्पत्ति अरु कालु धरनि धनुपुर सरगु नरकु जहाँ लगि व्यवहारु

जागे लाभुनहानि कछु तिमि जिय जो वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई उस कुबद्दी ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले हे भाई कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं मिलना बिछुड़ना भले बुरे भोग शत्रु मित्र और उदासीन ये सभी भ्रम के फंदे हैं जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल जहां तक जगत के जंजाल हैं धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहां तक व्यवहार हैं जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं इन सब का मूल मोह अर्थात अज्ञान ही है परमार्थतः ये नहीं है जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए हस विचारी नहीं कीजिए रोसू काहू ही बादी न दे दोसु मोहनिसा सोवनिहारा देखिय सपन अनेक प्रकारा एहि जग जामिनी जागहि जोगी परमारथी प्रपञ्च भियोगी जान जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा हो विवेक मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा सखा परम परमारथ हुवे मन क्रम वचन राम पदनेह राम ब्रह्म रूपा अभिगत अलख अनादि अनूपा ककल विकार रहित गत भेदा कहि नितनीति निरुपही वेदा भगत भूमि भू सुरभि सुरहित लागि कृपाल करत चरित धरि मनुज तनु मिटहि जग जगजा ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच से छूटे हुए हैं जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है हे सखा मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ अर्थात पुरुषार्थ है श्री राम जी परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्म है वे जानने में न आने वाले स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले आदि रहित उपमा रहित सब विकारों से रहित और भेद शून्य है वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गो और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं जिनके सुनने से जगत के सारे जंजाल मिट जाते हैं मांस पारायण पंद्रहवा विश्राम सियापति रामचंद्र की जय